और तभी तक विक्रांत के पास मौका है कि वो उसकी जान बचा ले अभी तो विक्रांत रास्ते में ही है विक्रांत का दिमाग बिजली की तरह तेजी से चारों तरफ दौड़ रहा था अचानक उसे ख्याल आया कि आखिर रमाकांत के पास फोन किसका आया था किसका फोन सुनकर वो इतना सदमे में चला गया कि तुरंत अपनी गन निकालकर यहाँ नितिन को मारने के लिए चला आया आखिर ऐसी कौन सी बात उसने सुन ली थी और ये फोन करने वाला कौन हो सकता है कहीं ये अशोक तो नहीं था ओ गॉड हो सकता है कि अशोक ने ही रमाकांत के पास फोन करके उसे सावधान रहने के लिए कहा हो क्योंकि अभी कल ही मैं और नैना उसके घर गए थे और हो सकता है कि अशोक को कुछ भनक लग गई हो ये भी हो सकता है ना कि अशोक को भी ये बात पता हो कि रमाकांत ने नितिन खरबंदा को अपने ऑफिस में छुपा कर रखा हो और उसी ने रमाकांत से नितिन को मारकर सबूत मिटाने के लिए कहा हो एक बार के लिए तो विक्रांत को लगा कि अगर रमाकांत को इस वक्त रोकना है तो अशोक से उसके पास फोन करवा कर रोका जा सकता है लेकिन अगले ही पल विक्रांत को लगा कि भला अशोक क्यों रमाकांत को रोकेगा और और मैं मैं उससे क्या बात करूंगा अगर मैं किसी तरह से अशोक का फोन नंबर निकाल कर अशोक से बात करके कुछ कहूंगा तब तो वो और ज्यादा सावधान हो जाएगा इस वक्त रमाकांत को नितिन का मर्डर करने से रोकने के लिए विक्रांत को सिर्फ एक ही तरकीब समझ में आ रही थी इस वक्त कैसे भी करके अगर रमाकांत के पास फोन करके उसका ध्यान भटकाया जाए तो ही वो उसे गोली चलाने से थोड़ी देर तक रोका जा सकता है लेकिन विक्रांत ऐसा करे भी तो कैसे एक बार तो वो खुद भी रमाकांत के पास फोन करके उसे अपनी बातों में बहलाकर थोड़ी देर के लिए अंगेज रख सकता है लेकिन रमाकांत के पास इस वक्त उसका सीक्रेट फोन ही था इस फोन का नंबर किसी के पास नहीं था सिर्फ उसके खास लोगों के पास ही इस फोन का नंबर हुआ करता था विक्रांत को उसका सीक्रेट नंबर निकालने में इतना वक्त लग जाएगा कि तब तक वो नितिन का काम तमाम कर देगा ये सोचते सोचते विक्रांत ने गाड़ी के एक्सलेटर को और जोर दिया सड़क सुनसान थी सो गाड़ी लगभग नब्बे की स्पीड में भाग रही थी विक्रांत के मन में इस वक्त हजारों तरह के विचार उमड़ रहे थे तभी उसे एक तरकीब सूझी विक्रांत ने गाड़ी ड्राइव करते करते ही अपना फोन निकाला और फिर उसने रमाकांत के बेटे रोहित का नंबर डायल कर दिया उसे पूरी उम्मीद थी कि रोहित के पास जरूर रमाकांत के सीक्रेट फोन का नंबर होगा और रोहित का फोन नंबर भी विक्रांत के पास था कल ही जब वो तनिष्क टेक्नोलॉजी में विक्रांत से मिला था तभी उसने रोहित का नंबर ले लिया था एक हाथ से गाड़ी की स्टेयरिंग पकड़े पकड़े उसने दूसरे हाथ से फोन बाहर निकाला और तुरंत ही रोहित को फोन मिला दिया रिंग जाने के कुछ सेकंड बाद ही रोहित ने फोन उठा लिया हेलो कौन रोहित ने कहा हेलो रोहित अग्रवाल बात कर रहे हैं क्या हाँ आप कौन रोहित ने कहा मैं किडनैपर बोल रहा हूँ तुम्हारे बाप को मैंने किडनैपिंग किया हुआ है और वो इस वक्त मेरे कब्जे में है पुलिस को फोन करने की हिम्मत मत करना वरना जान से मार दूंगा ऐसे क्या क्या बकवास कर रहे हो कौन बोल रहा है रोहित ने हड़बड़ाते हुए कहा बकवास बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो अभी तुम्हारा बाप बेहोश पड़ा है अब अगर इसे होश में लाना चाहते हो तो तुरंत जाकर उसकी अलमारी में से पैसे निकालकर मुझे फोन करो क्या एक मिनट तुम तुम बोल कौन रहे हो रोहित ने हड़बड़ाते हुए कहा लेकिन अब तक विक्रांत ने फोन रख दिया था विक्रांत ने रोहित से ये सब इसलिए कहा था कि जिससे वो उसकी बातों को सीरियसली ले और तुरंत अपने बाप को फोन कर दे ताकि कुछ मिनट के लिए सही लेकिन रमाकांत का ध्यान कहीं और चला जाए और विक्रांत को वहां तक पहुंचने का वक्त मिल जाए फोन रखने के बाद तुरंत ही विक्रांत ने अपने अदृश्य कैमरे को ऑन कर दिया और रमाकांत पर नजर रखने लग गया उसे देखा कि अभी भी रमाकांत बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा है अभी भी वो हाथ में गन लिए हुए नितिन के बाहर निकलने का इंतजार ही कर रहा था फिर जैसे ही दरवाजे के खुलने का संकेत हुआ रमाकांत हाथ में गन तान खड़ा हो गया लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि रमाकांत ने तुरंत ही अपना हाथ पीछे खींच लिया और गन को छुपा लिया जैसे ही सामने से बाथरूम का दरवाजा खुला उसके उसके साथ ही रमाकांत का फोन भी बच पड़ा रमाकांत पैंट की जेब में हाथ डालकर अपना फोन तलाशने लगा और फिर फोन उठाकर वो साइड में जाकर बात करने लग गया विक्रांत यहाँ से कुछ सुन तो नहीं पा रहा था लेकिन वो श्योर था कि ये कॉल रमाकांत के बेटे रोहित ने ही किया है वो अपने बाप के पास फोन करके कंफर्म करना चाहता था कि सही में उसका किडनैप हुआ है या नहीं अब तक नितिन बाथरूम से बाहर आ चुका था वो अभी नहाकर निकला था बाहर आने के बाद वो अभी भी टॉवल से अपने गीले बदन को पहुंच ही रहा था रमाकांत अभी भी फोन पर बात ही कर रहा था कि विक्रांत उसकी बिल्डिंग के पास बस पहुंचने वाला था विक्रांत को अच्छे से पता था कि बिना किसी सिक्योरिटी बैकअप के रमाकांत से भिड़ना सांप के मुंह में हाथ डालने के बराबर है पहली बात तो बिल्डिंग के आसपास काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद होंगे और रमाकांत के हाथ में भी लोडेड पिस्टल है अब अगर विक्रांत ने उसे रोकने की कोशिश की तो बेशक वो विक्रांत के ऊपर ही गोली चला सकता है और सबसे बड़ी बात विक्रांत को अभी बस शक है कि रमाकांत ने नितिन को छुपा रखा है क्योंकि विक्रांत के पास नितिन की कोई ओरिजिनल फोटो नहीं है जिस फोटो की मदद से वो नितिन को पहचानने का दावा कर रहा है वो सिर्फ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट द्वारा बनाई गई इमेजनरी फोटो है ऐसे में अभी शत प्रतिशत इस बात का दावा नहीं किया जा सकता कि रमाकांत जिस आदमी को मारने जा रहा है वो सच में नितिन खरबंदा ही है वैसे विक्रांत के पास बैकअप फोर्स बुलाने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं था उसके पास फोर्स बुलाने का दूसरा तरीका भी मौजूद है हेलो नैना नैना विक्रांत ने बिल्कुल जल्दबाजी में कहा ताकि नैना को लगे कि कोई इमरजेंसी है अपने लिए बैकअप बुलाने का उसके पास नैना से अच्छा कोई विकल्प नहीं था उसने बिल्कुल हड़बड़ाती हुई आवाज में कहा नैना सुनो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट सबूत मिला है लेकिन नितिन नितिन नितिन नितिन खरबंदा विक्रांत इतना बोल ही सका तब तक उसकी गाड़ी अग्रवाल कॉर्पोरेट्स की बिल्डिंग के पास पहुंच चुकी थी उसने गाड़ी की स्टेयरिंग जोर से दाई तरफ घुमाते हुए ब्रेक पर अपना पूरा जोर लगा दिया जिससे गाड़ी के पहिया जमीन और आवाज के साथ फिसलते हुए थम गया और साथ ही गाड़ी के ब्रेक से भी जोर की आवाज गूंज उठी नैना कुछ समझ पाती और वो विक्रांत से कुछ कह पाती इससे पहले ही विक्रांत ने दोबारा से फोन पर चिल्लाते हुए कहा तुम तुम तुम लोग तुम लोग सब इतना कहते कहते विक्रांत ने गाड़ी का दरवाजा खोला और तेजी से फोन वहीं फेंक कर भागने लगा गाड़ी का फोन बंद होते ही उसके भीतर जल रही लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई इसके बाद विक्रांत तेजी से बिल्डिंग के अंदर की तरफ भागने लगा विक्रांत ने फोन तो वहीं फेंक दिया था लेकिन उसके हाथ में नैना की दी हुई स्मार्ट वॉच लगा हुआ था भले ही नैना ने विक्रांत को सीक्रेट फोन के नाम पर ये बच्चों वाली घड़ी देकर उसे बेवकूफ बनाया था लेकिन फिर भी इससे जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम था और नैना आसानी से इसकी मदद से विक्रांत का लोकेशन निकाल सकती थी फिर वो आसानी से पुलिस फोर्स लेकर अग्रवाल कॉर्पोरेट के ऑफिस पहुंच सकती है और ये बात विक्रांत को भी पता थी तभी उसने अपना मोबाइल फोन वहीं छोड़ दिया था ताकि नैना की सच में लगे कि वो किसी इमरजेंसी में फंसा हुआ है और इस तरीके से वो अपने लिए बैकअप फोर्स को भी बुला लेगा लेकिन इस तरीके से पुलिस फोर्स को बुलाना कोई इलीगल काम भी नहीं था विक्रांत को पूरी उम्मीद थी कि नैना बहुत जल्द पुलिस फोर्स लेकर वहां पहुंच जाएगी लेकिन फिर भी विक्रांत की जान को खतरा तो था ही रमाकांत को उसके ही ठिकाने पर आकर रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करना सांप के बिल में हाथ डालने जैसा है फिर भी आज विक्रांत बिना किसी खतरे की परवाह किए बिल्डिंग के भीतर भागता हुआ जाने लगा उसे पता था कि बिल्डिंग के बाहर काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स लगे होंगे जो किसी भी हालत में उसे अंदर नहीं जाने देंगे और अगर इन गार्ड्स को यह पता चल गया कि वो कोई पुलिस वाला है तब तो मुसीबत और बढ़ जाएगी क्योंकि तो फिर गार्ड्स तुरंत ही इसके बारे में रमाकांत को इन्फॉर्म करेंगे और फिर वो सारा खेल खराब हो जाएगा तब ना तो विक्रांत के पास नितिन की जान बचाने का टाइम रहेगा और ना ही रमाकांत उसे यहां से सही सलामत जाने देगा ऐसी स्थिति में विक्रांत के पास दो चैलेंज है पहला तो नितिन की जान बचाना और दूसरा उसे अपनी आइडेंटिटी भी छुपानी है इसलिए विक्रांत ने तुरंत ही अपने टूल्स की लिस्ट चेक की इतफाक से उसके पास अदृश्य शक्ति द्वारा गायब होने वाला टूल मौजूद था लेकिन दिक्कत ये थी कि ये टूल सिर्फ एक मिनट के ही लिए एक्टिव रह सकता है विक्रांत ने तुरंत ही उस टूल को एक्टिव किया और फिर तेजी से लिफ्ट की तरफ भागने लगा लिफ्ट के पास दो गार्ड्स खड़े थे लेकिन वो विक्रांत को देख नहीं पा रहे थे विक्रांत ठीक उनके बगल से गुजरता हुआ लिफ्ट के बटन के करीब पहुंच गया और उसने लिफ्ट खुलने के बटन को प्रेस कर दिया लिफ्ट का दरवाजा खुल गया दोनों गार्ड्स अचंबित होकर लिफ्ट की तरफ देख रहे थे दोनों आश्चर्य में पड़ गए यहाँ कोई आदमी तो दिख नहीं रहा फिर ये लिफ्ट कैसे खुल गई फिर उन्हें लगा कि कोई टेक्निकल खराबी हो विक्रांत ने लिफ्ट के भीतर घुसते ही जी प्रेस किया और फिर वो ग्राउंड फ्लोर से भी एक फ्लोर नीचे आ गया लिफ्ट ओपन हुआ और विक्रांत बाहर निकला यहाँ उस वक्त बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था लिफ्ट से बाहर निकलते ही विक्रांत सीधे ही रमाकांत के सीक्रेट रूम की तरफ भागने लगा